और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि जिहाद का हक है उसने तुम्हें अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया है और तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी अपने बाप इब्राहिम के दीन को मजबूती से थाम लो उसने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी ताकि ये रसूल तुम्हारे लिए गवाह बने और तुम दूसरे लोगों के लिए गवाह बनो लिहाजा नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को मजबूती से थामे रखो वो तुम्हारा रखवाला है देखो कितना अच्छा रखवाला और कितना अच्छा मददगार